जागृत स्वप्न सुश्रुत्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञावा सर्वबंधे ही प्रमुच्यते जागृत स्वप्न सुश्रुत्यादि प्रपंचम जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुश्रुत अवस्था पहले कही गई तदादय आदय विश्व विराट आदय वही तेव प्रपंच जागृत सुश्रुत्यादि प्रपंचम विश्व विराट आदि व्यष्टि अभिमानी का नाम विश्व है व्यष्टि स्थूल सर अभिमानी समष्टि स्थूल सर अभिमानी का नाम विराट है इसी प्रकार सूक्ष्म सर अभिमानी तेजस है व्यष्टि हिरण्य गर्भ है समष्टि प्राज्ञ है कारण सर्वाभिमानी और कारण उपाधि के ईश्वर ये सब कुछ प्रपंच ही है जागृत सब स्वप्न सुश्रुतादि प्रपंच तम यत प्रसिद्धम स्वयं प्रकाशते प्रकाशयति यत प्रकाशते प्रकाशयता प्रकाशयति सब को प्रकाश करने वाला दृग रूप चेतन है पूरे सा जागर स्वप्न सुश्रुति सब कुछ दृश्य प्रकाश्य एक ही प्रकाशक है आपके जागृत प्रपंच में सारे जीव ईश्वर भी जड़ चेतन सब आपके जागृत प्रपंच का दृश्य जिस प्रकार आपके स्वप्न प्रपंच में आपका ही स्वप्न दृश्य सब है स्वप्न में आपसे भिन्न जीव मनुष्य पशु वृक्ष गुरु शिष्य जड़ चेतन जितने देखते हैं वो आपसे भिन्न कुछ नहीं आपके अंदर है आपका दृश्य है आप दीर्घ रूप चेतन आपका दृश्य स्वप्न प्रपंच सब इसी प्रकार जागृत प्रपंच जितने दिखता है सब कुछ आपका दृश्य है दृग रूप चेतन एक है जो स्वप्न दृष्टा वही जागृत दृष्टा आप है सुश्रुति अवस्था में भी आप रहते हैं दृश्य जागृत प्रपंच नहीं रहने पर भी दृग रूप चेतन एक है वो रहता है तो वो दृग चेतन एक है जागृत स्वप्न सुश्रुति प्रपंच को प्रकाश करने वाला जागृत प्रपंच का दृग एक है अनेक नहीं है ऐसे लगता है हम जैसे देख रहे अन्य लोग भी देख रहे हैं बहुत लोग देख रहे बहु कोई सुखी कोई दुखी है इसी भेद से जीव अनेक ऐसे लगता है किंतु विचार करेंगे तो सपने में भी आप सपने देखते समय आपके कमरे में अकेले आप सपने देखते समय भी आपसे भिन्न बहुत जीव दिखते हैं उस समय नहीं लगता कि ये मैं ही हूँ मेरे से भिन्न है शत्रु मित्र पशु पक्षी मनुष्य जड़ चेतन सब दिखते हैं सब दिखने पर भी वस्तुतः आपसे भिन्न वहाँ कोई नहीं जो दृघ रूप चेतन स्वप्न दृष्टा उससे भिन्न कुछ नहीं सारे दृश्य कल्पित है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच में सारे दृश्य कल्पित है दृघ रूप आप ही केवल सत्य है बाकी सब कल्पित है इसी प्रकार स्वप्न में भी आपका शरीर दिखता है आपका जो सर्व सपन में दिखता है वो भी कल्पित है जागृत काल में शरीर तो शांत सोया लेटा हुआ सपने में एक शरीर बनता है जो दौड़ता है चलता है फिरता है कभी गिर पड़ता है हाथ में पैर में चोट लग जाता है ये सब जितना होता है कल्पित शरीर में होता है वो आपका स्वरूप नहीं है उस समय स्वप्न में उसी शरीर में अहम बुद्धि होती है इसी प्रकार जागृत अवस्था में आप देखते समय ये जो शरीर एक कल्पित शरीर बना हुआ है माया से अज्ञान से आपका स्वरूप इस सब का अधिष्ठान है उसके अज्ञान से ही ये शरीर में हम बुद्धि बाकी मेरे से भिन्न है कोई शत्रु मित्र कोई पुरुष कोई स्त्री कोई मनुष्य कोई पशु कोई पेड़ कोई जा, जानवर क्या क्या सब दिखते हैं जड़ चेतन आकाश भी दिखता है सारे कुछ प्रपंच जागृत प्रपंच कल्पित स्वप्न प्रपंच के समान ये स्वप्न प्रपंच के साथ जागृत को बार बार विचार करने पर ही जागृत प्रपंच में मिथ्या तो बुद्धि होती है पंचदशी कार स्वामी विद्यारण स्वामी ने पंचदशी में कहा स्वस्वप्नम आप्रोक्षण दृष्टा पश्य स्वजागरम चिंतित अप्रमत सन उभावनुदिनम हो स्वप्न प्रत्यक्ष देखते अपरिचय देख करके अपनी जागृत अवस्था का दोनों का चिंतन करो चिंतित अप्रमत सन प्रमाद रहित होकर निरंतर उभौ अनुदिन प्रतिदिन दोनों का चिंतन करो मुँह बार बार स्वप्न के स्वप्न देखते समय जगे थोड़ा समय बैठ करके सोचो कितने कितने क्या देखा कुछ नहीं दिखता है जागृत में से दिखता है किंतु हम उसको सत्य मानते हैं और सपन दिखता है तो सपन समय में कोई सत्य मानता है मिथ्या मानता है सत्य पूरा सत्य मानते हैं सत्य मानने से सत्य नहीं होता है जगने के बाद बाधित तो हो जाता है सत्य मानते हैं सपन समय बिल्कुल सत्य मानते हैं जैसे जागृत उस समय कोई नहीं सोचता मैं सोया गया अभी स्वप्न देख रहा हूँ उस समय लगता है मैं स्नान किया नित्य कर्म किया मंदिर में गया अभी पढ़ रहा हूँ भोजन कर रहा हूँ भोजन किया चल रहा हूँ भोजन करके जंगल किया चलते चलते पैर फिसल जाता है उस समय सुबह से अनु सब स्मरण है सुबह स्नान किया फिर नित्य कर्म पाठ आदि सब किया भोजन किया अभी घूमने जा रहा हूँ उस समय ऐसे पूरा अनुभव होता है जिस प्रकार जागृत में होता है स्वप्न में नहीं लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ सोया क्या करके कहा करके सोया सपने देखता मैं भूखा हूँ कभी भूखा है सपने देखा बहुत तो सम्मान से भोजन खिलाए तृप्त होकर के सपने में ये सब दिखता है किंतु नहीं है इसी प्रकार जागृत प्रपंच का बार बार विचार करे चिरम तय सर्वसाम्यम दृष्टा पश्यन स्वजागरे सत्यत्य भ्रांतिम संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत दीर्घ काल देखे तो चिरम तय हो सर्वसाम्यम बिल्कुल समान है स्वप्न और जागृत में दोनों का बिल्कुल सर्वसाम्यम विचार करने पर निश्चय होता है विचार नहीं करने पर लगता है कोई बोलते स्वप्न तो झूठा है ये जागृत कैसे झूठा है पहले विचार करो स्वप्न कैसा जागृत कैसा स्वप्न देखते समय कोई कहे झूठा है तुम स्वप्न देख रहे हो कहे तो कोई मान लेगा सपने देखा अपने गुरु आकर कहते अरे तू तो क्यों रो रहा है तू तो खा करके सोया था अभी सपने देख रहा हो वो मानेगा भूख लगती पहले कहा थोड़ी कि भोजन कुछ दे दो पानी दे दो पी लो गला सूख जाता मर जाऊंगा बाद में बात करूंगा जागर सपन सपन कहने पर कौन सुनेगा पहले पहले पानी पिला दो नहीं तो मरने वाला हूँ सपन में तो सुनेगा सपना कोई मान लेगा जा सपना देखते समय अभी इसी प्रकार अभी मिथ्या कहने पर ग्रहण नहीं होता है किंतु दोनों को बार बार विचार के चिरम तय हो सर्वसाम्यम दृष्टवा अपने जागृत में सत्य तो बुद्धि है जिस प्रकार सपना देखते समय सत्य तो बुद्धि है जागृत में सत्य तो बुद्धि है ये सत्य तो बुद्धि में संत्यज्य पूरा सम्यक त्याग स्वप्न के साथ मिला करके जैसे सपना प्रपंच मिथ्या ऐसे जागृति मिथ्या है इसे सत्यत्व बुद्धि होने पर ही वासना इच्छा होती है प्राप्त करने के लिए इदम में सियात इदम में सियात इदम शोभनम इदम अनुको यह बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है मुझे मिल जाए सत्य तो बुद्धि होने पर मिथ्या तो बुद्धि होने पर भी जितने सुंदर दिखे मिट्टी के केला बनाया सेव बनाया लकड़ी से जितने सुंदर दिखने पर भी उसको नहीं चाहता है खाने के लिए देखने के लिए थोड़ा देख लेता है कि खाओ भूख लगती है कि देंगे लकड़ी के केला बनाकर सुंदर केला खाओ नहीं मिथ्या तो बुद्धि होने पर वासना की निवृत्ति होती है यही वेदांत श्रवण करके प्रपंच में बार बार मिथ्या तो बुद्धि करे तब वासना निवृत्ति होती है तब तो वैराग्य होता है सत्य तो बुद्धि होने पर वैराग्य नहीं होता इच्छा होती है भूख लगती सामान्य भोजन है कहीं की इच्छा नहीं करो इच्छा तो होगी संकोच नहीं मांगे ज़्यादा भूख होने पर मांगना पड़ेगा जहाँ कहाँ मांग कर फिर खा लेते हैं तो ये बार बार मिथ्या तो बुद्धि करने पर दीर्घ रूप चेतन एक है स्वप्न जागृत दोनों को देखने वाला जैसे रूप रस को जानने वाला एक है रूप विषय भिन्न रस भिन्न विषय भिन्न है रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति दो वृत्ति अंतकरण वृत्ति भिन्न भिन्न है एक ज्ञान दोनों के साथ संबद्ध है घटापट को देखने वाला एक है इसी प्रकार जागृत दृश्य स्वप्न दृश्य दोनों को देखने वाला आप एक है ये तो आपका अनुभव है आप ही जागृत अवस्था में हैं आप भी स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जागृत का दृष्टा एक ही आपका निश्चय है सुश्रुति में भी आप रहते हैं वही जो प्रकाश करता है उसको कौन प्रकाश करेगा सारे स्वप्न प्रपंच जैसे मिथ्या है जागृत प्रपंच मिथ्या हो गया सुश्रुति में केवल अज्ञान रहा तो दृग रूप चेतन को प्रकाश करने वाला कोई पदार्थ नहीं रहा सारे जागृत प्रपंच यदि दृश्य हो गए ज्ञेय हो गए जड़ हो गए मिथ्या हो गए और बचा क्या ब्रह्म को प्रकाश आपके स्वरूप को प्रकाश करने के लिए स्वयं प्रकाशमान है उसको प्रकाश करने वाला कोई है ही नहीं जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्था का दृश्य जितने सुश्रुति अवस्था में दृश्य क्या है अज्ञान है सपना प्रपंच स्वप्न में जागृत प्रपंच ये सब कुछ छोड़ देंगे तो आपसे भिन्न क्या रहेगा और कोई रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा तो कोई है ही नहीं दृश्य भी कोई नहीं रहा जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को अलग कर देंगे तो आप दृग रूप चेतन आपके सामने दृश्य क्या रहेगा वही है दृश्य आपसे भिन्न को है ही ना दृश्य होगा ना तो आपका प्रकाशक होगा इसलिए स्वयं प्रकाशमान है ऐसे जागृत स्वप्न सुश्रुति को जानने वाला मैं हूँ ऐसा निश्चय है या नहीं है, है? तो अपने स्वरूप में कभी संशय होता है स्वप्न अवस्था में जो देखने वाला मैं देखा था अभी जागने के बाद मैं हूँ या नहीं हूँ स्वप्न देखने वाला अभी मैं हूँ या नहीं हूँ संशय होता कभी मैं हूँ मैं ही स्वप्न देखा मैं ही हूँ अभी तो स्वरूप में संशय भ्रांति नहीं होती है वही स्वरूप जो है स्वयं प्रकाश हो उसको प्रकाश करने के लिए जानने के लिए मैं हूँ या नहीं हूँ जानने के लिए प्रकाश आलोक की आवश्यकता है अंधकार हो तो मैं होकर निश्चय होगा अंधेरा में और आंख बंद कर दे तो सो निश्चय होगा हाथ से थोड़ा सिर में पीठ में हाथ लगाना पड़ता है मैं हूँ या नहीं हाथ है या नहीं पैर है या नहीं ये संशय हो जाए कहीं आसन लगाकर बैठे तो पैर सुन हो जाता है तो समय संशय का क्या पैर कैसा है है या नहीं किंतु मैं हूँ या नहीं हूँ ये संशय नहीं होता है यही स्वयं प्रकाश है अपने स्वरूप में संशय नहीं रहता है मैं अपरोक्ष हूँ प्रत्यक्ष है अपरोक्ष कैसा है ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी मैं हूँ निश्चय है तो सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व वेद्य होता है घटपट सामने वस्तु है तो दिखता है तो कहते अपरोक्ष है पुष्प दिखता है और अपरोक्ष है किंतु अपने स्वरूप है अपरोक्ष व्यवहार होता है मेरे अपरोक्ष अपने लिए कभी परोक्ष नहीं किंतु वेद्य नहीं अवेद्य है धर्म धर्मादित्य अभेद्य है अपरोक्ष भी नहीं होता है पर अनुमान प्रमाण से वेद्य होगा प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान प्रमाण से ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार नहीं होता धर्म अधर्म अपरोक्ष ऐसा नहीं होता है और जिसमें अपरोक्ष व्यवहार होता है वो वेद्य ज्ञ होता है किंतु अपने स्वरूप वेद्य नहीं होता हुआ भी अपरिचय व्यवहार हेतु है बाह्य पदार्थ तो वेद्य होगा तो अपरिचय जो नहीं दिखता है वो अपरिचय नहीं कहेंगे परिचय होगा किंतु ये वस्तु नहीं दिखने पर भी आत्मतत्व अपरिचय है यही स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाशते तदुतम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसका लक्षण क्या है सत्य ज्ञान आदि लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वह अनंत शब्द का अर्थ बताया था अंतरहित देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वही सत्य हुई ज्ञान है अहम ब्रह्म अहम अहम शब्द से किसको लेना वही तीनों का साक्षी दृष्टा दीर्घ रूप चेतन यही ब्रह्म है अवगंता ज्ञाता श्रुति कहते नान्य अस्तोस्ति दृष्टा श्रोता मंता ज्ञाता श्रोता मनता कोई अन्य है ही नहीं आत्मा से परमात्मा से भिन्न श्रोता दृष्टा कोई है ही नहीं एक ही है अब ब्रह्म ज्ञान होगा किसको शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ या और किसको होगा जीव को होगा मैं ब्रह्म हूँ शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान होगा या नहीं मैं ब्रह्म हूँ तो शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी है उसको ज्ञान नहीं दो शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है ना ज्ञान है अज्ञान कुछ नहीं है वही अज्ञान से वही जीव रूप से दिखता है अपने को जीव मानता है ये भी पारमार्थिक जीव नहीं होता है तो शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होने से अहम ब्रह्म से ज्ञान शुद्ध ब्रह्म को नहीं होगा तो फिर किसको होगा ये शरीर जानेगा मैं ब्रह्म हूँ इंद्रिय जानेगा इंद्रिय जानेगी या मन या कौन जानेगा मन जानेगा चिदाभास नहीं हो तो मनुष्य ज्ञान कैसे होगा चिदाभास जीव शब्द का वाच्यार्थ है चिदाभास चिदाभास विशिष्ट बुद्धि अथवा बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य ये जीव उसमें ज्ञान होगा चिदाभास को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ जो प्रमात अंतकरण विशिष्ट चेतन है वो जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ किस प्रमाण से जानेगा वेदांत प्रमाण अहम ब्रह्मा से वेदांत वाक्य से जानेगा वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान अहम अस्विम ब्रह्म इसे ब्रह्म ज्ञान वो नित्य है अनित्य है अनित्य ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा अनित्य ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी अनित्य ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा किस प्रमाण से वो ज्ञान क्या पदार्थ है ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है किंतु वो ब्रह्म केवल ऐसा नहीं कह सकते भिन्न नहीं अभिन्न नहीं वो भी अनिर्वचनीय है क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कहो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहो वो भी अनिर्वचनीय है ब्रह्म से बिना जितने कार्य सब अनिर्वचनीय है अविद्या अविद्या कार्य सब अनिर्वचनीय है चिदाभास भी कोई पारमार्थिक नहीं है वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य उसको ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ क्योंकि शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है तो ज्ञान यदि चिदाभास को होगा ज्ञान होने के बाद विधेय केवल प्राप्त करेगा तो चिदाभास रहेगा तो ज्ञान हुआ चिदाभास को और मुक्त हुआ ब्रह्म मुख्य काल में ब्रह्म रहेगा तो मुख्य काल में ब्रह्म रहा ज्ञान और बंधन काल में चिदाभास को बंधन है बंधन किस में है फिर ब्रह्म में है ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म भिन्न में बंधन और बंधन ब्रह्म में मुख्य बद्ध एक और मोक्ष दूसरा तो बद्ध मुक्त हुआ कोई बंधन में है उसको छोड़ दो मुक्त कर दो उसको नहीं मुक्त किया दूसरे को छोड़ दिया तो बद्ध मुक्त हुआ जो बद्ध वही मुख्य होगा ना बंधन जिसे मुख्य उसको होगा बद्ध है जीव और मुख्य कार्य में रहेगा ब्रह्म दोनों का एक अधिकरण होना चाहिए तो ब्रह्म में ही बंधन ब्रह्म में ही मुख्य बंधन भी ब्रह्म में मोक्ष भी ब्रह्म में दोनों में से बंधन और मोक्ष दोनों में वास्तव पारमार्थिक क्या है बंधन भी वास्तव नहीं बंधन वृत्ति वास्तव नहीं पारमार्थिक नहीं तो बद्ध है चिदाभास उसको ज्ञान होगा मैं ब्रह्म चिदाभास स्वयं ब्रह्म है क्या जो ब्रह्म नहीं उसको मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान होगा तो भ्रांति होगी या यथार्थ है ब्रह्म को यदि ज्ञान हो मैं ब्रह्म तो ठीक है और चिदाभास को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म किसको चौकीदार है उसको ज्ञान होगा मैं राष्ट्रपति हूँ यथार्थ होगा तो चिदाभास को हम ब्रह्म ज्ञान यथार्थ कैसे होगा ज्ञान जो चिदाभास को होता है अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म दो प्रकार है अहम ब्रह्म में जिस प्रकार सर्वम ब्रह्म बाद समानाधिकरण सर्वम नास्ति ब्रह्म है इसी प्रकार चिदाभास को ज्ञान होगा मैं चिदाभास कोई वस्तु नहीं ब्रह्म ही हूँ ब्रह्म ही क्योंकि दर्पण में जो प्रतिम्ब दिखता है वो प्रतिम्ब बिंब से अलग नहीं है दर्पण में कोई आपका प्रतिम्ब दिखते समय दर्पण में कुछ है दिखता है केवल तो दर्पण में जो दिखता है वो वो नहीं प्रतिबिंब नहीं वो बिंब ही है जो दिखता है वो प्रतिबिंब नहीं किंतु बिंब ही दिखता है दर्पण के माध्यम से चिदाभास ज्ञान होगा मैं जो आभास नहीं हूँ किंतु ब्रह्म ही हूँ बाद समानाधिकरण होगा चिदाभास नहीं किंतु ब्रह्म है तब ब्रह्म होगा ब्रह्म नहीं चिदाभास स्वरूपतः ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म होगा चिदाभास नहीं किंतु ब्रह्म चौर स्थाणु चौर नहीं किंतु स्थाणु है सर्वम ब्रह्म सर्वम नहीं किंतु ब्रह्म है ये यथार्थ है और विवरणकार कहते मुख्य समानाधिकरण है अहम ब्रह्म ज्ञान तो होगा चेदाभास को किंतु साधक जब श्रवण मनन करता है प्रमाता जीव चिंतन करते समय पहले त्वम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ता है क्या बताया त्वम पदार्थ मैं कौन हूँ पहले निश्चय नहीं हो करके मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं होगा त्वम पद का तो तुम अहम पद का अर्थ तो मैं इतने जाने से नहीं होगा और क्या जानना पड़ेगा त्वम पद का अर्थ क्या है कुटस्थ चैतन्य ये भी सुन लिया कुटस्थ चैतन्य में हूँ मैं ब्रह्म हूँ इतने से हो जाएगा त्वम पद का अर्थ मनुष्य ये ठीक था तो नहीं त्वम पद का अर्थ तुम ये नहीं तम पद का अर्थ चेतन शुद्ध चेतन ये भी समझ लिया उनसे हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान नहीं तम पद का जो लक्ष्यार्थ कूटस्थ चैतन्य उसका ज्ञान कैसे होना चाहिए संशय विपर रहित संशय नहीं शास्त्र श्रवण करके बार बार निश्चय किया क्योंकि देहादि मेरा दृश्य है मैं नहीं हूँ जो मेरा दृश्य है वो मैं नहीं हूँ मेरे से भिन्न है देहादि को मैं जानता हूँ आप देह इंद्र मन बुद्धि को जानते हो प्राण को इसलिए आप देह इंद्र मन बुद्धि प्राण से भिन्न है ये तो संशय दूर हो जाएगा किंतु विपरीत भावना देह में हम बुद्धि देह में हम बुद्धि अनादिकाल से इतने दृढ़ है समझने के बाद भी तार्किक लोग नहीं मानते क्या देह से बिना आत्मा मानते हैं नहीं मानते है? आत्मा अलग देह का अलग सब तो दोनों का लक्षण करके बिल्कुल दृढ़ निश्चय है किंतु अहम कहते समय देह को छोड़ करके कहा निश्चय होता है ब्रह्म ज्ञान के बिना देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है बड़े कठिन है ये विपरीत भावना जो देह में अहम बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अहम बुद्धि विपरीत भावना वो विपरीत भावना रहित तो, बार बार चिंतन करे लक्ष्यार्थ का तभी विपरीत भावना की निवृत्ति होगी योगाभ्यास करके जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हैं वस्तुतः समाधि करके निर्विकल्प समाधि को जाए तो थोड़े आसन प्राणायाम करके थोड़ी देर रह गया प्राणायाम कर दिया कुछ आसन कृष्ण सीख लिया फिर लोगों को दिखाने लगा ये वो गया रास्ता से हट गया और थोड़े करते करते ध्यान करते करते आधा समय सोया आधा समय रहा और ध्यान का बैठ गया सीधा बैठने मात्र से समाधि नहीं कहते हैं सीधा बैठना आवश्यक है सीधा बैठ कर समाधि स्थिर समाधि रह करके समा प्राणायाम आदि करके ध्यान करे किंतु बैठना तो बच्चे भी कहते बच्चे भी बड़े सुंदर बैठ जाते हैं एकदम स्थिर होकर के मन में ध्यान इस प्रकार लगातार ध्यान और आगे सब सिद्धि आदि का चक्कर है सिद्धि आदि योग सूत्र में कहे गए ये प्राप्त करने के लिए नहीं कहे गए ये सब प्रतिबंधक है मार्ग में जाने पर उसको जानना ये सब आने पर प्रतिबंधक आता है रास्ता में जाना लक्ष्य कहाँ है बीच में कुछ आ गया वो प्रतिबंध जो आ गया सिद्धि आ गई उसी चक्र में फिर आ गया थोड़े चमत्कार जो दिखाने के सामर्थ्य आ गया आगे जाना बंद फिर चमत्कार दिखाने लगे होने पर इतने समझिए कि ये सब शास्त्र में जैसे कहा गया यथार्थ है फिर आगे बढ़ना चाहिए और चमत्कार दिखा करके यदि लोग में ख्याति धन आदि इकट्ठी करने लगे तो आगे जाना बंद हो गया गिरना पतन खाली जाना बंद नहीं पतन भी शुरू हो जाता है झूठा चमत्कार दिखा करके धन ख्याति इकट्ठी करे तो कोई देखने वाला है या नहीं कहीं से ऋण ले करके रुपया नहीं दे या बुद्धिमान है ना नहीं रुपया लिया दिया नहीं चला भाग चला गया बहुत लोग ऐसे करते हैं इकट्ठी करते हैं फिर बाद में कहीं चले गए ठग दिया ऐसा जो ठग करके कुछ लेता है वो ऋण को मोचन करने के लिए आगे है कोई उसको ऐसे बनाएंगे गधा बन करके उसके मकान बनाने के लिए पत्थर ढोएगा गधा हुआ तो खचर बने पत्थर ढो करके नहीं तो कुत्ता बन के लिए पीछे पीछे भागेगा कुछ ना कुछ तो करके सेवा करके नहीं तो उसके नौकर बनेगा ऐसा नहीं कि किसको ठग कर चला गया तो बुद्धिमान हो गया नहीं चमत्कार दिखा कर धन और ख्याति इकट्ठी कर लिया जितने लोग उससे प्रणाम आदि लिया ऐसे बन करके इतने लोगों को इतने पास जाकर प्रणाम करेगा सेवा करेगा तभी कुछ होगा पहले तो नरक आदि जाएगा बाद में इसलिए ये नहीं बुद्धिमता समझना किसी प्रकार प्रताड़ना करके कुछ प्राप्त कर लिया कुछ आ गया प्रताड़ना नहीं करे कुछ अपने पास आ गई तो भी हर्ष को प्राप्त नहीं करना कि हम उत्कृष्ट है हमको बहुत मिल गया ये सोचना कोई जरूरत नहीं बहुत आ गया तो आपका पुण्य क्षय हो रहा है यदि साधन भजन पूरा नहीं करे उसका सदुपयोग नहीं करे तो ऋणी बना किसी प्रकार कोई दिया ग्रहण किया ठग कर ले जाए अथवा कोई सन्मार्ग को दे तो भी ऋण हुआ तो ऐसे विशेष साधन भजन नहीं करे तो ये रेणी बन करके आगे फिर मोचन करना पड़ेगा इसलिए कोई चमत्कार दिखाता है चमत्कार में महत्व बुद्धि साधकों को नहीं करनी चाहिए यदि महत्व बुद्धि करते कोई चमत्कार दिखाने वाले को अच्छा मानते हैं स्वयं उसके पीछे चलेगा फंस जाएगा अपने रास्ता से हट जाएगा साधारण कुछ चीज हो थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया तो लोग उसमें आकृष्ट होते हैं जरूर किंतु ये यदि साधक वही करने लगे तो गया शास्त्र में सिद्धि आदि कही गई और प्रतिबंधक है उसको उपयोग करके लोग प्रदर्शन कराए तो ये प्रतिबंधक हो गया वो कुछ नहीं करे सिद्धि आने पर भी ऐसे नहीं करे कि इसको बताए कि मेरे पास कुछ सिद्धि आ गई कुछ विशेष है ऐसे चले साधारण बन करके ऐसे करते करते यदि निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाए समाधिष्ट हो गया तब तो ये प्रपंच में मिथ्यात्व तो बुद्धि उसको सरल से हो जाती है वेदांत वाक्य सुनते ही ज्ञान हो जाएगा क्योंकि त्वम पद का लक्ष्यार्थ समाधि में रह करके जब देखता है देहादि के बिना बिल्कुल द्वैत विस्मरण होकर के शांत रहता है तो लक्ष्यार्थ का निश्चय जल्दी हो जाता है तो महावाक्यार्थ बोध शीघ्र होता है उसको और वह पंचमी भूमिका में रहता है जीवन मुक्त बिल्कुल ज्ञान हुआ एकदम अहम अस्मी ब्रह्म ज्ञान ऐसे निर्विकल समाधि को प्राप्त करने के बाद अथवा सगुण ब्रह्म उपासना करके सगुण ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार कर ले भक्ति भी द्वे तो चिंतन करते ठीक अच्छा साधन है खाली भक्ति अच्छा हम भक्त इसे मानने से नहीं होता है भक्ति कर करके इतने हो कि इष्ट देवता का दर्शन हो जाए जिस प्रकार वेदांत श्रवण करके अपरक्ष ज्ञान होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन साधने करना चाहिए इसी प्रकार यदि कोई द्वैत चिंतन करता है सगुण ब्रह्म की उपासना करता है कोई कम नहीं है किंतु तब तो करना पड़े जब इष्ट का दर्शन हो जाए इष्ट दर्शन नहीं कर पा नहीं करके खाली इतने लाख इतने करोड़ जप कर लिया इतने अनुष्ठान कर लिया इतने मात्र से कुछ नहीं होता है कर लिया तो ठीक है किंतु फल तो प्राप्त नहीं हुआ फल प्राप्ति तो है इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए बहुत लोग इसे कहते सुनते सुनते कह बोलते रहते हम तो मुख्य भी नहीं चाहते भक्ति करते हैं तो बस प्रेम है समर्पण है बस प्रेम है बड़ा सबसे बड़ा साधन है भक्त द्वैतवादी बोलता है मुख्य को भी लात मार लेते हैं मुख्य को नहीं चाहते वो तो बोल सुनते सुनते वो भी बोलने लगते हैं कथा सुनते सुनते भी बोलते हम नहीं चाहते कुछ नहीं चाहते कुछ नहीं चाहते ईश्वर का दर्शन चाहते हो नहीं चाहते हो अच्छा नहीं कुछ नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है सब का इच्छा समाप्त किंतु परमात्मा प्राप्ति मोक्ष नहीं चाहते तो कहेंगे बाकी सब की इच्छा है बाकी प्रपंच की तो इच्छा है मोक्ष की इच्छा नहीं परमात्मा दर्शन जब तक सगुणों का भी दर्शन नहीं हो तो भक्ति दृढ़ वैराग्य भी नहीं हो भक्ति अधिक हो तो वैराग्य भी दृढ़ होना चाहिए इष्ट देवता का साक्षात्कार यदि हो जाए अथवा निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाए वो साधक को कहते उत्कृष्ट साधक वेदांत ज्ञान के लिए कृतोपास्ति कहते उसको जिसने उपासना करके साक्षात्कार कर लिया इष्ट का वो साधकों को तत् महावाक्य उपदेश करने से ज़्यादा श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करना पड़ेगा ज्ञान हो जाएगा किंतु वहां तक पहुंचे तो निर्विकल्प समाधि तक योग मार्ग में पहुंचे अथवा सगुण ब्रह्म की उपासना करके साक्षात्कार करे वो भी ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा नहीं रहे तो ज्ञान होगा अब ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा है तो आगे उपदेश होने पर भी श्रवण मनन करेगा फिर ब्रह्मलोक लोक जाएगा ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्मा जी के उपदेश से ब्रह्मलोक ज्ञान होगा तो मुक्त होगा सद्य मुक्ति नहीं होगी ये भी भावना रखे सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले ये भी भावना रखे ब्रह्मलोक नहीं जाऊं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए बड़ा कठिन है उसी को ही मानते हैं मुख्य वैकुंठ कैलाश को कहाँ कहाँ जाने का यही सब भावना होती है वही ब्रह्मलोक है यदि ये भी भावना नहीं पूरा अर्पण कर दे तो तो इष्ट देवता साक्षात्कार होने पर उनके उपदेश से गुरु भी सदगुरु प्राप्त होते थे उनके उपदेश से शीघ्र ज्ञान हो जाता है क्योंकि त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय होता है जब कोई उपासना करके सगुण ब्रह्म साक्षात्कार करता है तो अपना कुछ अलग रखता रहता ही नहीं पूरा समर्पण हो गया ये इसलिए जितने पुराण में सगुण ब्रह्म का ध्यान स्त्रोत्र आदि करते समय अंत में एक अद्वितीय तत्व आप ही आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है यही होता है तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय होने के बाद ही महावाक्य अर्थ बोध होगा इसलिए यही विचार करना है जागृत सपना प्रपंच बिला करके प्रपंच मिथ्यात्व बुद्धि करके दृग रूप चेतन है मैं इसका त्वम पद में संशय विपर रहित तो ज्ञान पहले हो फिर अहम अस्मी ब्रह्म तो इसी प्रकार जानने के लिए पहले अपने स्वरूप का निश्चय करने के लिए अपना स्वरूप खाली शब्द से नहीं संशय विपर रहित तो ज्ञान होने तक तो विचार करना पड़ता है इसको कहते पदार्थ शोधन तम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन अन्य व्यतिरिक युक्ति के द्वारा पदार्थ शोधन करना इसको भी बड़ा तप कहा गया बार बार ये शोधन करना तब चिदाभास को ज्ञान होगा अहम ब्रह्म साधक जब इसे चिंतन करता है तो चिदाभास को उस समय ये निश्चय हो जाता है कि मैं कुटस्थ हूँ साधक आपको जैसे निश्चय होता है पहले तो मैं जीव हूँ मनुष्य हूँ विचार करते करते निश्चय हो जाते कि मैं कूटस्थ हूँ कूटस्थ चेतन में अहम बुद्धि जब हो जाए तो ही कूटस्थ चेतन ही ब्रह्म है वहाँ बाद समानाधिकरण नहीं मुख्य समानाधिकरण है विवरण करते अहम ब्रह्म ज्ञान जो होता है मुख्य समानाधिकरण इसलिए क्योंकि अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ चेतन निश्चय होता है तभी अहम ब्रह्म ज्ञान होता है अहम शब्द का तो कुटस्थ चेतन चैतन्य निश्चय हो गया तो अहम ब्रह्म मुख्य समाधिगण है और उसको समझाने के लिए जब कुटस्थ चेतन साधक नहीं समझ पाता है उसको तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है अहम शब्द का अर्थ कुटस्थ चेतन निश्चय हो जाता है उसके दृष्टि से मुख्य समानाधिकरण है और अन्य को जो श्रोता अन्य को शिष्य अन्य सुन रहे अभी कुटस्थ चेतन निश्चय नहीं हुआ तो उनको समझाते हैं तुमको ज्ञान होगा चिदाभास को ज्ञान होगा किंतु चिदाभास को ज्ञान कैसे होगा बाध समानाधिकरण कुटस्थ चैतन्य में संशय विपर रहित तो ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक मुख्य समानाधिकरण भी समझना कठिन होता है मुख्य समानाधिकरण कुटस्थ चैतन्य वहाँ बुद्धि होने पर होगा किंतु पहले बाद समानाधिकरण कहते चिदाभास को ब्रह्म ज्ञान होगा तो तो ज्ञान होगा प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चेतन है प्रमाता चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसको ज्ञान होगा इसलिए कहा अवगंता अहम ब्रह्म अवगंता जो अब जानने वाला है वही ब्रह्म है जागृत स्वप्न सरस्वती का जो प्रकाशक है और अहम ब्रह्म इसे ज्ञाता ही वही फिर आनंद आत्मा चिद रूप है आनंद स्वरूप है चेतन अलग आनंद अलग नहीं है चेतन ही आनंद है इसी प्रकार ज्ञान होगा अहम ब्रह्म इत अन प्रकार ने ज्ञातवा अहम ब्रह्म से जान करके साक्षात्कृत्य साक्षात्कार करके शब्द से सुनकर के मैं ब्रह्म स्थित तो हो जाता है ये साक्षात्कार नहीं है संशय विपर रहित ज्ञान अहम शब्द संशय विपर रहित ज्ञान ब्रह्म शब्द में तब साक्षात्कार ये साक्षात्कार इस प्रकार जिस प्रकार देह में आत्मबुद्धि अज्ञान क्या है इसी प्रकार देह नहीं मैं हूँ देह इंद्रियादि नहीं हूँ ब्रह्म देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिव भवेद्यस्य स नेच्छन भी मुच्यते अज्ञान में जो देह में आत्मबुद्धि है इसी प्रकार दृढ़ निश्चय हो कि मैं देह नहीं हूँ देह शब्द से केवल स्थूल नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण से भिन्न देह आत्मा ऐसा जो ज्ञान का बाधक एव भवेद्य अभी ज्ञान होता आत्मा अनात्मा सब मिला करके किंतु आत्मनि एव पूरा अनात्मा से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और पहले समता है तो समता अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म हो ठीक है मैं ब्रह्म हूँ किंतु मैं शब्द के अर्थ में अनात्मा कुछ नहीं रहे आत्मा ही रहे आत्मनि एव भवेद से आत्मा में ही ज्ञान हो देहादि आत्मा से भिन्न में किसी में नहीं हो जैसे घटो अस्थि कहते समय घट और सदरूप दोनों मिला हुआ है ऐसे अहम कहते समय कुटस्थ चैतन्य तो है अधिष्ठान चैतन्य भी है सूक्ष्म भी चिदाभास भी सब मिला हुआ है बाच्यार्थ में जीव शब्द का अर्थ है चैतन्यम यदधिष्ठान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था जीव उच्यते अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर चिदाभास शोक मिला करके किंतु आत्मनिव भवित से अधिष्ठान चैतन्य को केवल लेना ऐसे अहम ब्रह्म ज्ञान हो तो स न भी मुच्यते इच्छा नहीं होने पर भी मुक्त हो जाएगा इच्छा की आवश्यकता नहीं इसलिए मुख्य की इच्छा नहीं क्या जरूरत है ज्ञान यदि हो गया तो मोक्ष की इच्छा करना क्या जरूरत है मोक्ष इच्छा नहीं करने वाला कौन होता है बुभुक्षुरपि संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी दुर्लभो ही महाशय संसार में बुभुक्ष तो बहुत ही भोग करने इच्छा करने चाहते चाहते कोई ना नहीं भोग करने की इच्छा सब करते और ज्ञान बुभुक्षुरपि दृश्यते और कोई कोई मुमुक्ष दृश्य थे मुमुक्ष भी कोई कोई है बहुत नहीं होते मोक्ष की इच्छा करने वाले कोई कोई होते हैं शब्द से कहने से नहीं होता है कि हम मोक्ष नहीं चाहते हम इंद्र पद नहीं चाहते हम ब्रह्म पद नहीं चाहते शब्द से तो कोई कह देगा वासना बहुत ही सब उत्तर पर हम कुछ नहीं चाहते भोजन करने की इच्छा करना है नहीं जरूरत नहीं अध्यात्म अच्छी तरह से खाया जरूरत नहीं है ऊपर से बोलेंगे देते समय से ऐसे कुछ लोगों का ऐसा अभ्यास है मना करेंगे किंतु तो खाने की इच्छा पता चल जाएगा नहीं नहीं कहकर जाकर बैठ जाएंगे <laughs> यानी ये कहना से नहीं होता है इच्छा का अभाव मोक्ष की इच्छा नहीं कि इसे बुभुक्षुरपी संसार में मुमुक्षुरपी दृश्य थे मुमुक्षुत्व नहीं तो बुभुक्षुत्व है मोक्ष की इच्छा नहीं तो भोग करने की इच्छा है तब कहें मोक्ष की इच्छा नहीं क्योंकि भोग करने की इच्छा तो अभी मोक्ष क्यों चाहे क्या जरूरत है अभी बाकी है भोग इतनी जल्दी क्या कोई कहते इतनी जल्दी क्या अभी तो कम उम्र है बाद में करेंगे साधना क्योंकि आप पहले थोड़ा भू कर लो बड़ा होने के बाद <laughs> प्रयत्न करना बोले थोड़े दिन में साधन करेंगे तो हो जाएगा कभी उसको क्या है ये मोक्ष तो कभी में नहीं हो जब ज्ञान हो जाए अहम अस्मि मुक्त ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मोक्ष की इच्छा रही क्या तो भोग मोक्ष निराकांक्षी तो जो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उस मोक्ष की इच्छा करेगा इच्छा नहीं करेगा बोलो ठीक करेगी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मोक्ष की इच्छा करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा तो मोक्ष उसको मिलेगा अच्छा मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा तो भोग की इच्छा करेगा तो भोग मोक्ष निराकांक्षी भोग भी नहीं चाहता है मोक्ष भी नहीं भोग की इच्छा तो पहले चली गई आगे ज्ञान हो गया तो मोक्ष की इच्छा नहीं रही देखा मैं मुक्त हूँ ऐसा कोई दुर्लभ होता है भोग मोक्ष निराकांक्षी इसलिए मोक्ष की इच्छा नहीं ऐसे कहते हैं सुनते सुनते कहने वाले कहते जाते है बहुत किंतु मोक्ष की इच्छा नहीं तो भोग की इच्छा है और भोग मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो और नहीं हो के शब्द से बोलने के लिए कोई निम खाता है बहुत मीठा बहुत मीठा कह सकता ना नहीं कह सकता है निम मुखे में रखो बिठा बिठा कहो कौन मना करेगा बहुत मीठा दूसरे को बच्चे को किराने का देखो बहुत मीठा लगता है खाओ इसी प्रकार सुन सुन कर बोलते हमारे मोक्ष की इच्छा नहीं मोक्ष को लात मार देते मोक्ष की इच्छा नहीं मोक्ष की इच्छा नहीं भक्त तो मोक्ष नहीं चाहता है बस भव नहीं चाहता नहीं चाहता है कि बोलते सो ठीक है नहीं चाहते तो भोग चाहते हो अब भोग मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं मतलब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ऐसे ही वासना निवृत्त हो जाए सरल से नहीं है तो साक्षात्कार हो जाएगा तो अहम ब्रह्म इत ज्ञात ज्ञान हो गया साक्षात्कृत सर्व बंध ही प्रमुच्यते बंध क्या अपने वासना ही बंध है इच्छा ही बंधन है थोड़ी सी छोटी सी कम इच्छा है बाहर को नहीं दूसरे को पता चलेगा क्या अंदर इच्छा तो दूसरे को पता नहीं चलेगा तो मोक्ष मिल जाएगा दूसरे को ठगने का नहीं होता है यहाँ यहाँ तो बिल्कुल अंतर्जामी परमात्मा है उनको कोई झूठ बोल कर ठग नहीं सकता है यही वासना जब तक इच्छा है तब तक बंधन है जितने इच्छा है इतने बद्ध है जो ज्ञान हो गया तो वासना की निवृत्ति हो गई तो सर्व बंधे ही प्रमुख अज्ञान रहेगा ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य सो इच्छा कुछ नहीं सर्वबंधे ही प्रमुचते सर्वबंधे क्या निखिल बंधे ही निखिल बंधे ही बंधन क्या अज्ञान के कारण इच्छा इच्छा होती है क्या पहले अहम अज्ञान के कारण स्वरूप में स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से स्वरूप भिन्न में अहम बुद्धि रज्जु के ज्ञान नहीं होने से उसमें रज्जु का भिन्न सर्प बुद्धि होती है शुद्ध चैतन्य अहम शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं हुआ तो देहादि को मिला करके अहम बुद्धि इंदिरा मन प्राण आदि को अहम देहादि में अहम बुद्धि होने से फिर मेत संबंधी है तो मम यही पहले आ जाते अहम और मम मैं और मेरा मेरा ज्ञान होने के पहले अहम आत्मा अनात्मा का तादात्म अध्यास होने से अहम बुद्धि होती है एकत्व तो अध्यास अंतकोण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होता है एकत्व तो भ्रम लौह पिंड अग्नि दो भिन्न है लौह को अग्नि में रखा लाल हो गया तो लौह अग्नि एक दिखता है कोई कहता अग्नि कोई कहता लौह इसमें कौन ठीक है बताओ लौह लाल हो गया कोई कहता है अग्नि है कोई कहता है लौह है कौन सा ठीक है दोनों लौह भी अग्नि भी है अग्नि भी है वो दो पदार्थ है किंतु एक नहीं है मिल जाने पर दोनों का एकत्व तो हो गया एकत्व तो होता ही नहीं इसलिए थोड़ी देर में अग्नि चला गया केवल लोह को लोह रह गया इसी प्रकार अंतकोण चेतना दोनों भिन्न भिन्न एक जड़ एक चेतना दोनों का एकत्व तो भ्रम होता है क्योंकि चेतन का आभास चिदाभास अंतकरण में दिखता है वो लगता है वो चेतन है वो जो तादात्म भ्रम हुआ एकत्व तो अध्यास हुआ उसमें अहम बुद्धि हुई उसे अहम बुद्धि होने के बाद फिर मामा बुद्धि मेरे संबंधी है ममत्व तो बुद्धि ये अहम ममादेश यही बंधन है अहम मम अहंता और ममता मम आदि आदेश ये जितने बंधन है सब इच्छा सकारणी ही कारण न सहित सकारणम कारण के साथ कारण अज्ञान सबसे प्रमुच्यते प्रमुच्यते का प्रकर्षण मुच्यते प्रकर्षण मुक्त होती प्रकर्षण बिल्कुल मुक्त होता अज्ञान निवृत्त हो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ज्ञातवा ज्ञान से अहम ब्रह्म से ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो गया तो मुक्त हो गया विषया विनिवर्तनते निराहार सिद्धि न रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टा निवर्तते रसवर्जम का आसक्ति थोड़ी रहती है विषय तो विनिवृत्त हो गए अभ्यास करते साधक विषय ग्रहण नहीं करता है इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करके सब समाधि वेदांत श्रवण मनन करता है इंद्र विषय इंद्र को दमन करके तो विषय निवृत्त हो गए इच्छा भी कम हो जाती है वैराग्य भी होता है बहुत होने के बाद भी रस वर्जम रस थोड़ी आसक्ति रहती है सूक्ष्म रूप से ऊपर से नहीं है तो सूक्ष्म रूप से रहती है रसोप्यस्य से परम दृष्टा निवर्तते ब्रह्म ज्ञान से ही निवृत्त होती इसलिए जब तक ब्रह्म साक्षात्कार अहम अस्में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक हम भोग भी नहीं चाहते मोक्ष भी नहीं चाहते इस शब्द से तो कोई कह देगा सरल नहीं है मोक्ष की इच्छा नहीं मतलब भोग की इच्छा है बहुत लोग से आप लोग कहीं सुनोगे ऐसा कहेंगे भक्ति को बड़ा कहने के लिए ऐसे कहते कहते ऐसे कहेंगे तो भक्त तो इतने है बस प्रेम करता है कुछ नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता भोग भी नहीं चाहता भोग मोक्ष दोनों को नहीं चाहने वाला इतने सरल नहीं शब्द से कहने से नहीं होता है मोक्ष की इच्छा नहीं तो भोग इच्छा है जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं हुई तब तो भोग की इच्छा बहुत है अब भोग की इच्छा कम होने पर होती तभी मोक्ष की इच्छा हो तो और मोक्ष की इच्छा निवृत्ति कब होगी ज्ञान होने पर ज्ञान के बिना मोक्ष की इच्छा समाप्त हो जाएगी जो ज्ञान अब श्रवण मनन कर जो स्थिति हो जाती है कि हम ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति कर रहता है उस समय कभी कभी उसको लगता है कि मैं मुक्त हूँ तो जानता है कि अभी कुछ नहीं हो गया तो फिर भी विपरीत भावना जब तक है तब तक आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती है समाधि अवस्था में सब ठीक हो गया फिर बाहर आने पर आसुति व्यवहार में अरे तो साक्षात्कार हो जाने पर ही मुख्य होता है उसके बिना कभी नहीं नान्य पंथा तो है ना श्रुति श्रुता सूत्र में आई प्रकसन मुक्त भवती थी और जो परब्रह्म है प्रपंच से कैसे विलक्षण आगे कहेंगे ओम सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर करवावह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिषावह ओम शांति शांति शांति